क्या बजाया अभी आपने फिर से बताओ क्या बजाया तुमने क्या नाम है तुम्हारा सीताराम सीताराम क्या उम्र है तुम्हारी आप क्यों बोल रहे हैं हाँ, अच्छा तुम बता प्लीज आप नहीं बोलिए मैं इंटरव्यू ले रही हूँ क्या नाम है बेटा आपका सीताराम क्या उम्र है आपकी नौ साल क्या बजाया अभी आपने रावण हता रावण तो बजाया उस पर क्या बजाया गज घूमर बजाया ना अभी घूमर हाँ, हाँ तो वो बता का क्या भरतरी जी महाराज जहाँ तक धरती जहाँ तक भरतरी की उम्र है भरतरी जी महाराज पिंगला रानी अच्छा रानी पिंगला भरतरी जी कहेंगे जोग धार लियो अच्छा और पिंगला गंजार के भिक्षा देव मैया पिंगला अच्छा कोर्ट ने माँ केर बतलाया अच्छा अच्छा हिंदी में बताऊँ आपने बात हाँ, हाँ। भिक्षा देव मैया पिंगला जोगी खिरा दुआ राजा भरतरी अच्छा क्या सत्य तो को जोग तुम्हारा मर जाऊँ कटारी खा अच्छा मतलब पिंगला रानी हम्म। और भरतरीज महाराज को है जन की पांच पुत्र बड़ी बहन के एक पुत्र ले उदा रानी पींगला हम्म। मांगिया पुत्र नहीं मिले मांगी मिल जाओ भीख राजा भरतरी इकन कुंवारी रहती तो पिंपल पूछती लेती मारी को नाव राजा भरतरी मतलब उम्र के अनुसार तो जोगदार तो कोई बात को उम्र कम ही और वह जोगदार लियो भगवान बेग ले लिया महात्मा बन गया साधु आवाज़ आप पुरानी बात बताई पुरानी बात सुनाई हूँ आपने हाँ, हाँ, हाँ। आप पुरानी सुनाई पुरानी अच्छी बात पुरानी बहुत तो भरती जी महाराज की बहुत पुरानी और भी कुछ सुनाओ ना हाँ और भी और भी सुनाऊ हम्म। और क्या सुनाओगे बताओ नर और नारी को गाना सुना दो आपने मर्द रुकाई को सुना दीजिए ठीक है एक हंसने दूजी दंतनी तीजी संकड़ी नार सोती नार कई जे बिदनाम दिख करे पत्ती की सेव और एक बिजुग में चार तक नार हंसनी नारे हंसने बोले मन में जो प्यार संकड़ी खून पत्ती को पी नहीं कर मनम पर बिन विचार के मारो पत्ती है साम बैठो लार रखो जो कोई मीणिया है नहीं मीणिया और आपके साथ जो गा रही हैं उसका क्या नाम है सोनी देवी आप बताइए ना अपना नाम सोनी जोर से आपका माइक तो इधर है सोनी देवी सोनी देवी कब से आप बजा रहे हैं रावण हत्या तेरह साल से उसके पहले क्या करते थे तो तेरह साल से सीख गई दूसरा कोई नहीं इंस्ट्रूमेंट बजाता हूँ सीख के तेरह साल ही हुए आपको बजाते उसके पहले क्या करते थे नहीं नहीं तेरह साल को तो मैं सीखने लग गया अच्छा जब आप तेरह साल के थे तब से आप चौपन साल की उम्र भी मेरी अच्छा तो ये आपको किसने सिखाया हमारे नाना जी या अच्छा आपके नाना जी उनका क्या नाम कृष्णा राम जी अच्छा वो मेरा उस्ताद है अच्छा और आपके पिताजी पिताजी नहीं बजाते अच्छा पिताजी नहीं बजाते नहीं बजाते तो आपके नाना जी बजाते थे और ये कब से आपके साथ गाने लगे तो हमारी शादी हुई ना हाँ हाँ बाद के मैंने थोड़ी माता पूरी करी मैं सीखने की अच्छा पहले मारो भाई गाते साथ में गणेश नाम छोटो अच्छा। भाई लास्ट को हाँ हाँ। वो साथ में गाते हूँ बा औरत दी थी वो भाई तो शांत हो गयो अभी हम्म। नहीं है हम्म, हम्म। वो साथ में गाते बिन साथ में इन गुआई में वो आगे अच्छा। सीखियो बाबू जी के पर अच्छा। फिर बाद में दोनों देर बजे गाता भेड़ा बाद के मैंने मैं सीखा दी फिर भाई बच्चे भाई ने की उनको कहीं गुना बाकी अकेली बहुत अच्छी है जानकार हम्म, हम्म, हम्म। राशि की फिर बात में अच्छा सिकई मैं ही और आपके पीर में नहीं सिक्योर अच्छा तो आप दोनों मिलके गाते हैं दोनों मिलके मैं दोनों जना यहाँ बस आपसे अच्छा तो अब आप गाते हैं वो कितने एक महीने में कितनी फड़ पाँचने को मिल जाती है मतलब मान कोई नापो कौन कमाएगा कमाओ दिन तो दाबरी कमाओ अच्छा और आप बरसात के मौसम होगी ने बाद के महीने के महीने में दस हज़ार रुपये कमा जाते अच्छा अच्छो महीनो आ जाओ नहीं माने हम्म, हम्म, हम्म। पर बरसात के बच्चे कोई आवे कोई मारे कोई पढ़ बचाओ ना कोई नहीं आवे अच्छा बिल्कुल घरे बैठे हम अब कोई कमाई नहीं है अच्छा और अच्छा दिन आज नोरता का दिन है या चेती नोरता अरसू जी नोरता मांग मायने अच्छी जी है छः पड़ बाचानी में तो छह हज़ार रुपये तो कमाई હજાર બાર શ્રીજોખો મારો કોઈ જાત જાગણ ન દેવું ભાઈસ્ટોરી પાવું જ જચી આપણ રચિયાની હથલે બે હાથ છોડી છોડી બિલકતી માથ જસરા મોડ બળબળિયો લિયો ભાલો ધન્ય પાવું રાઠોડ મને મેં સમજાવું चलिए सुनाइए फिर वही वाली सुनाइए जो आप सुना रहे हाँ। तो यो हाँ बाबू जी की सुनाऊँ हाँ साथ में जी महाराज की कथा है हाँ, हाँ। तो बाबू जी देवता है जैसे रामदेव जी है हाँ। जैसे ही बाबू जी है रामा अवतार लिछमणा अवतार लिछमणा अवतार में बाबू जी है रामा अवतार में रामदेव जी महाराज है तो इनका मेला भी खरीदता है और मैं भी उनका मैं सेवा करा बाबू जी को स्थान मतलब मेरा कांकर में अच्छा। और मैं भोपा के वे माने इन वास्ते बाबू जी की कथा सुनावा लोगों ने बाहर गाँव में बाबू जी की स्टोरी पूरी मैं जाना ठीक तो कहो है कि योगे जी महाराज देवल शक्ति शक्ति ही कि योग आप रीज या छोट रानी हथले वो जोर और जींदरा वो खींची रीज के मारी नव लग गाय सू गाया घेर ली सूर्या जन की धीरे दम करिए के सगत भवानी मन गाया की पुकार खोल चुडू मारा हृदय का बांध रहा कांकर डोरड़ा जन ब्राह्मण महाराज हथले वो दीजिए मारो बधाए तीन फेरा फिर कितना तीन सात फेरा नहीं फिर ब्राह्मण महाराज हथले ओदे पाबू देव को बधाए बंदी गऊ तेरा हिंदू में फेरा नहीं फिरूं जिन पाँचों में कविता है बार बार टाइम करोड़ी बात है पहले जो चारण लोग हुए चारण चारणा की जचिया अपन रचिया नी हथले वे हाथ छोटी ने छोटी बिल कती मत बान्या पाबू जसरा मोड़ बड़ बलियो लियो भालो धन्य पाबू राठोड़ अरसों सगत उतरी परती का टुकड़ा चार एक बनगी जुलू जैन तेग शक्ति आपो आप द्रौपदी का भेग धारिया के ने मन हिमल लिया जलू जयंत को भेग धारियो चोईस भाई बगड़ा उत खपाया देवल खा चिल्ली को भेग धारियो जूनागढ़ चोईस कोटी राठौर की खपाई देवल सगत का अवतार बोली गढ़ के कांगर है पाबू मांडे पिलाने खमद चढ़ो काल में पाबू कुल भान पर तंग बरतो रही धनी पाल को सतर दानल श्रीधार बड़ने भाटी लड़े बारह असीलड़े गेलो ते गेलो असले पवार सात बीसी सांवला दो शमे के दमामी पाबू के भेड़ा ही मारा दमामी ढोल बजावर सो ढोली भी आगरे इतना तो पाबू के भेड़ा दो सौ चौदह आदमी सात बीसी में आ तो बिल्लांगी जान आती जान ने क्यों दाल बाटी आनी जिमा दोगे वे दाल बाटी जिम के थाने फेरा ले थाने जाओ भाई पढ़नी जो जन क्यों नहीं सहा के सामा तमू बाटियां तनियोड़ा है मान मार झगड़ो यो दान लाने दान राजपूत वारे और बाटिया रहे और खींचा रहे जन की और आपकी रोटी जीव नहीं मैं लून पानी आराम को कर मान जाती भील के माने कि वो जिंदा रहा तो फेरो ले लिया नहीं मैं तो हम बेड़ा यहाँ जन वे माड़ा भील कमरबान मान हम बेड़ा हम गया मामा पीज पांच बीन मारी दिया कंवारा अच्छा। तो वे कंवारी छोड़ आई कोड़ू में डागी ठोड़ मतलब ठोड़ खत्म हो गया खत्म हो गया जन बाबू जी मोटा है बूढ़ो जी छोटा है बाबू जी दो रानियाँ बूढ़ो जी गेलो तम बनी जुड़ा और उमरकोट के मायने शादी बाबू जी की हुई छोटी रानी छोटी जी पढ़नी जा और रामदेव जी उमरकोट में पढ़नी जुड़ा है राम साहब नेतल देव जी सोडी है अच्छा। दल जी छोटे के पढ़नी जा फिर तुम छोटे के बाबू जी पढ़नी जा अच्छा। उमरकोट में शादी हुई यहाँ तो आने में स्टोरी पूरी जानकार हाँ मतलब अच्छा। बाबू जी का भोपा इन वास्ते मैंने भोपा के वे हम्म। और जाते में बील हाँ पर कहीं मैं बाबू जी की स्टोरी पूरी जाना चलिए आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा और ये अब थोड़ा रावण हत्या के बारे में बताइए ये रावण हत्या आपका है हाँ ये हमारे कितना पुराना है ये वो तो पुराना ज़्यादा है कितना कितना गाय बहुत पुराना है तो खत्म उतारना है पचास साल साठ साल नहीं नहीं मार लड़को एक मोटो पच्चीस साल होगी ने बनाया अच्छा पच्चीस साल का है। पुराना है अच्छा तो इसमें ये एल्यूमिनियम के क्यों लगा रखे हैं ओ यो लगा इनमें तार शाप बाजे अवतार ये झूल है ना हाँ, हाँ हाँ इसको क्या बोलते हैं आप रामनता तो। नहीं नहीं नहीं इन तारों को क्या बोलते हैं तार को तो तुर्प कहते हैं तुर्प तुर्प कहते हैं झील नहीं कहते झूल नहीं कहते तुर्प कहते अच्छा अच्छा इसको थोड़ा सुनाइए बजा के अच्छा तरबू को खाली तरबू एक एक था हाँ। सिंह को मैं बनायोड़ो है वो सुना दूं आप रावण हट्टा पर रावण तक पूरा टोटल गीत है मारो जोड़ी है चलिए सुनाइए उसके साथ आप खंजड़ी बजवाइए आप खंजड़ी बजा रहे थे ना हाँ जी तो मैं दूसरे गीत में बजा दूँ इसमें नहीं बजे मध्य में काली राग la, નકલી રાઉન્ડ તો સબ ભોપા બજાવે पेट भरने के ताए असली राउंड था तो धंधा राम बजे बाजो सोन सिकट के मैं सिकट दरबार की गाड़ी में रोक दी मैं रोड के ऊपर अच्छा अच्छा अच्छा खड़ो बजे तेरे भी मन मेरा पैसा लगा दियो दूसरा लगा दियो मार तो कहीं डायलॉग नाम नाम में जानू आप खजरी के साथ एक बार अब, कहीं के पुराना गीत है ना एक एक एक ले जाओ